फिर जब तमाम जादूगर आ गए उन्होंने फिर ऑन से कहा क्या यकीनन हमारे लिए ज़रूर कुछ सिला होगा अगर हम गालिब हुए